स्मरण प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों आर्य विनय के प्रथम प्रकाश का पैतालीसवां मंत्र स्वाध्याय के लिए हमारे सामने है इस मंत्र के माध्यम से भी आर्यों को ये बताया जा रहा है कि परमात्मा के प्रति किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए मंत्र का प्रारंभ है मृड़ा नो संबोधन किया पहले रुद्र हे रुद्र हे सबको सब दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा यदि परमात्मा दुष्टों को कष्ट देता है ये उनके लिए भी हितकर है और इससे हम भी आर्य भी सुख से शांति से रह सकते हैं इसलिए परमात्मा को यहां रुद्र रूप में कहा हे रुलाने वाले दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा रुद्र नो मृड़ा हमारे को सुखी कर उनको तो रुला उनको तो कष्ट दे लेकिन हमारे को सुखी कर मृड़ा मंत्र में लिखा हुआ है मृड का वेद में मृड़ा हो जाता है दो तिंग वाला ये शब्द है तो इसको अंत में दीर्घ हो जाता है मृड़ा मूल शब्द संस्कृत में जो हम लोक में बोलते हैं वो मृड आर्य को इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए हे दुष्टों को रुलाने वाले हमें सुखी कर आगे कहा नो मयस्कृधि हमारे लिए या हमारे को अत्यंत सुख से युक्त कर लौकिक सुख भी प्रदान कर और जो सर्वोच्च सुख है आपका आनंद जो है अत्यंत सुख है वो भी हमारे लिए कृधि बना संपादित कर उपलब्ध कर क्योंकि ये कामना हर आत्मा की होती है हमें सुखी कर वो एक आत्मा भी कामना कर रही है ये आर्य को भी कामना करनी चाहिए आगे कहा क्षयत वीरायते नमसा विधेमा ते तेरे लिए कैसा है तू क्षयत वीराय जो वीरों को क्षीण करने वाला है ऐसे तुझ के लिए आर्य प्रार्थना कर रहा है सुख के लिए तो वो किन वीरों के क्षय की प्रार्थना करेगा वो शत्रुओं के अनार्यों के वीरों के क्षय की प्रार्थना करेगा अपने लिए नहीं आर्यों के लिए नहीं इसलिए महर्षि ने इसका अर्थ किया शत्रुओं के वीरों का क्षय करने वाले ऐसे उस परमात्मा के लिए ते तेरे लिए आप शत्रुओं के वीरों का क्षय करने वाले हैं आप ऐसे हैं आप उनका क्षय करते हैं अनारियों के वीरों का आप क्षय करते हैं ऐसे तेरे लिए नमसा नमन करते हुए नमस्कार आदि से विधेमा हम आपकी परिचर्या करते हैं आपको धारण करते हैं आपको इस रूप में देखते हैं परमात्मा सदैव आर्यों को बढ़ाने वाला है और अनार्यों को क्षीण करने वाला है ये उसका स्वभाव है यदि आर्य ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप चल रहा है तो उसका सदा विजय ही होगा परमात्मा की सहायता भी उसके साथ रहेगी लेकिन यदि वो उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा वैसे दुष्ट नहीं है वैसे कुछ अच्छा करना चाह रहा है लेकिन उस योग्यता का संपादन नहीं किया पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया तो परमात्मा की सहायता उतनी उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी ऐसे में आर्यों का भी क्षय होगा उनके अपने कारणों से जो अनार्य हैं वो अपना कितना भी बल बढ़ाएं उनकी हानि ईश्वर के द्वारा फिर भी होती रहेगी आर्य के मन में यह विश्वास रहे कि मैं केवल अपने सामर्थ्य से ही नहीं लड़ रहा हूं मैं अपने और अपने सहयोगियों के साथ ही नहीं हूं उनका ही बल मेरे साथ नहीं है परमात्मा की सहायता भी मेरे साथ में है एक विश्वास एक निश्चय आर्य के मन में रहना चाहिए रहेगा और ये भी विश्वास रहेगा कि अनारियों का अनारियों के वीरों का परमात्मा क्षय करता है उनका समर्थन नहीं करेगा जो सहायता मुझे आर्य को प्राप्त है वो सहायता परमात्मा की अनार्यों को प्राप्त नहीं होगी नहीं हो सकती ऐसे में अनारियों से हमारा बल कुछ कम भी हो तो भी विजय हमारा हो सकता है क्योंकि वो बल परमात्मा का बल हमारे साथ में है और वहां उस उनके बल को वो क्षीण कर रहा है हमारा बढ़ रहा है और उनका क्षीण हो रहा है तो हमारा दुगना बढ़ रहा है यदि दो व्यक्तियों के पास पचास पचास रुपए हों हमारा एक बढ़े तो एक का अंतर होगा सामने वाले के पास पचास रुपए होंगे हमारे पास इक्यावन रुपए होंगे लेकिन हमारा बढ़ने के साथ साथ सामने वाले का भी यदि क्षय कर दिया जाए उनका पचास से उनचास कर दिया जाए तो अंतर दो का होगा हमारा यद्यपि एक बढ़ा है लेकिन अंतर दो का पड़ जाएगा हमारा पचास से साठ यदि उसने किया है और उनका पचास से चालीस किया है तो बीस का अंतर बढ़ेगा तो दोनों की आर्य को अपेक्षा है दोनों की आर्य आशा रखता है और परमात्मा ये दोनों कार्य करता है आगे कहा यत शम और जो कल्याणकारक चीजें हैं सुख हैं वह है योश्च और जो महर्षि ने जो अर्थ किया प्रजा के रोगों का भी नाश कर हमें सुखी कर शम हमें शम प्रदान कर और योश्च यो यो च रोगों को दूर कर ये अर्थ इस शब्द से कैसे निकला महर्षि ने कैसे निकाला तो इसमें यू धातु का ग्रहण किया जिसके दो अर्थ होते हैं मिश्रण और अमिश्रण मिश्रण का मतलब है मिलाना साथ में लाना संयोग कराना और अमिश्रण का मतलब है दूर करना विभाजन करना तो परमात्मा पृथक करने वाला भी है यू धातु से डोस प्रत्यय करके योह बनाया हुआ है वो अलग करने वाला है तो परमात्मा आर्यों से किसको अलग करेगा आर्यों की कौन सी चीज को दूर हटाएगा या आर्य अपने कौन सी चीज को हटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेगा तो वो कोई दुखद चीज ही होगी हानिकारक चीज ही होगी जिसको महर्षि ने यहां रोग के रूप में लिया है कि प्रजा के यानी आर्यों की प्रजा के हम प्रजाओं के श्रेष्ठ उत्पन्न के रोगों का भी नाश कर उसे हमारे से अमिश्रित कर दे जो रोग हमारे में मिश्रित है उसको अमिश्रित कर दे उनको हमारे से अलग कर दे जो भी दुख कारक चीजें हैं जो भी दुख देता है वो रोग कहलाता है जिन व्याधियों को हम रोग कहते हैं वो भी चूंकि हमें दुख देती हैं इसलिए हमें हम उन्हें रोग कहते हैं रुजंती थी रोगा वो हमें संतापित करती हैं दुखी करती हैं इसलिए हम उनको व्याधियों को रोग कहते हैं बाकी जितने भी दुख हैं उन सबको भी रोग नाम से कहा जाता है आयुर्वेद में दुख मात्र को भी रोग कहा है भूख और प्यास को भी रोग कहा है मृत्यु को भी एक रोग कहा है ये सब भी रोग हैं और इन रोगों की भी चिकित्सा होती है मृत्यु आदि दुख से निवृत्ति की चिकित्सा अध्यात्म शास्त्र योग शास्त्र है शारीरिक रोगों की चिकित्सा औषधि आदि से की जाती है तो परमात्मा को कहा गया योश्च हे परमात्मा हमारे से दूर कर अमिश्रित कर दुखों को रोगों को आगे कहा मंत्र में मनु आये जे पिता वो परमात्मा हमारा पिता है कैसा पिता है मनोहो मान्य कारक हमारा मान्य करने वाला है मान करने वाला है एक है हम पिता का मान करते हैं वो हमारे लिए माननीय है मान के योग्य है लेकिन यहां जिस पिता को कहा जा रहा है वो मान्य करने वाला है वो किसका मान करेगा वो हम पुत्रों का मान करेगा एक पिता वो होता है जो बच्चों का पालन पोषण तो करता है उस रूप में मान करता है लेकिन व्यवहार आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नहीं करता दुत्कार के बात करता है उपेक्षा से बात करता है अपमानित करते हुए बात करता है पिता तो है वो कह सकता है कि मैं पिता के कर्तव्यों का लालन पोषण रक्षण आदि का पालन कर रहा हूं मैं पिता हूं लेकिन ऐसा पिता अधिक प्रिय नहीं होता है पिता को भी बच्चों के साथ बड़ों को भी छोटों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तो यहां जिस पिता की बात की जा रही वो है मनोह पिता जो मान्य कारक पिता है वो पिता ऐसा पिता ये जे स्वप्रजा को संगत और अनेक विध लाड़न करता है या उपमा ली गई है जैसे मान्य कारक पिता आ ये जे अपनी प्रजा को संगत करता है और उसका लालन करता है लाडन करता है प्रेम करता है उससे ऐसे आप भी करो परमात्मा से जब जब जो प्रार्थना की जाती है वेदों में जो प्रार्थना की गई है जो कामना की गई है उन सबके पीछे ये भाव है कि परमात्मा ऐसा है परमात्मा ऐसा करता है तो परमात्मा हमारा मान करता है हमें सम्मान पूर्वक हमारे से व्यवहार करता है आ ये जे ये पिता कैसा है उसको कैसा कहा जा रहा है स्वप्रजा को संगत करता है अपनी प्रजा को मिला करके रखता है अपनी प्रजा को अपने पुत्रों को संतानों को मिले हुए देखने में बनाए रखने में उसको प्रसन्नता होती है उनको विभाजित करके उनको एक दूसरे से लड़ा करके अपना शासन चलाना पिता बने रहना अपनी आज्ञाओं का पालन करवाना ये पिता नहीं कर जैसे राजा के लिए कहा जाता है कई जने इस नीति से चलते हैं फूट डालो और राज करो जिन पे राज करना है और जिसको राज करना ही लक्ष्य है मेरा राज चलता रहे तो उसके लिए वो प्रजाओं में फूट डालते हैं आपस में उनको लड़ाते हैं ताकि उनका शासन चलता रहे वो भी रक्षा मांगने आएंगे ये भी रक्षा मानने मांगने आएंगे इनकी भी रक्षा की उनकी भी की वो हमारे दास बने रहेंगे हमारे से मांगते रहेंगे और हमारा शासन चलता रहेगा हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती रहेगी श्रेष्ठ पिता ऐसा नहीं होगा श्रेष्ठ राजा ऐसा नहीं होगा वो अपनी प्रजा को संगत रखना चाहेगा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि उनमें फूट पड़े यदि उसे लगेगा कि इनमें आपस में फूट हो रही है तो उसको संगत करने का प्रयास करेगा नहीं तो पिता राजा प्रशासक इस प्रवृत्ति में चले जाते हैं कि इन दोनों में परस्पर फूट है थोड़ा सा वैमनस्य है तो उसका लाभ उठाता है वो इससे उसकी बातें पूछता है वो कैसा है क्या क्या करता है राय करके प्रजा संगत होती है तो वो राजा को बताती नहीं है कम बताती है लेकिन यदि फूट हो उसके मन में द्वेष हो तो उस द्वेष का ये उपयोग करता है और उससे उसको सूचनाएं मिलती हैं दूसरों को दुर्बल कर सकता है वो इस फूट से शासन चला सकता है इसलिए उनके द्वेष को वो बनाए रखता है या बढ़ाता है लेकिन जो मनोह पिता है जो हमारा मान करता है वो आये जे वो संगत करके चलेगा प्रजा को फुट नहीं डालेगा शासन करना उसका प्रयोजन नहीं है वो उसका लक्ष्य नहीं है और जो राजा या जो पिता या जो प्रशासक अपनी प्रजा में फूट डाल करके और फिर शासन कर रहा है वो मनुह पिता नहीं है वो प्रजा का मान नहीं कर रहा है प्रजा का मान तो तब होगा जब उनको वो संगत करके रखे और संगत करते हुए वो शासन करता है तो ऐसा परमात्मा है परमात्मा कभी भी हमारे में फूट डाल करके राज नहीं करता वो हमें संगत बनाना चाहता है मिलजुल करके रहना रखना चाहता है तो मनो पिता आ ये जे यज धातु का अर्थ जो संगतिकरण है वो अर्थ यहां महर्षि ने किया स्वप्रजा को संगत करता है और दान अर्थ किया अनेक विध लाड़न करता है प्रेम से हमें देता है ताड़न भी करता है रुलाता भी है लेकिन जब हम आर्य हैं श्रेष्ठ हैं तो हमारा तरह तरह से लाड़न करता है जैसे मां बच्चे को प्रेम से उसका लाड प्यार करती है ऐसे वो हमारे को करता है तो ऐसे आप हमारे लिए हो आप हैं ऐसे आगे तत् अश्याम तब रुद्र प्रणीतिशु हे रुद्र दुष्टों को रुलाने वाले अब आर्य परमात्मा से सुख की प्रेम की लाड़न की प्रार्थना कर रहा है उसके साथ साथ एक विशेषण दो बार दे दिया पहली पंक्ति में भी और इस पंक्ति में कि परमात्मा के रुद्र गुण को भी ध्यान रखना स्वयं दुष्ट मत बन जाना नहीं तो ये प्रार्थना कुछ नहीं वो हमारे को रुलाएगा हम भी चूंकि दुष्ट बन जाएंगे वो दुष्टों को रुलाता है ये हमारे लिए एक संतोषकारक चीज है ये द्वेष नहीं है उसके प्रति हानिकारक द्वेष नहीं है अविद्यायुक्त द्वेष नहीं है तो दूसरे को रुलाता है इसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हुए ये बोल रहे हैं कि तुम दुष्टों को रुलाने वाले हो वो दुष्ट कोई भी हो मैं भी हो सकता हूं मुझे भी आप रुलाओगे तो मैं ये सुख हो, सुखी होने की या सुखी करने की जो प्रार्थना कर रहा हूं वो दुष्टता से हट करके कर रहा हूं आर्य बन करके कर रहा हूं आपने मुझे भी रुलाया है क्योंकि मैं दुष्ट था दुष्ट रहा अब मैं आर्य बन रहा हूं मैं श्रेष्ठ बन रहा हूं मैं इतना इतना आर्य बन चुका हूं अब मेरे को आप अपनी कृपा फिर से प्रदान कर दीजिए मुझे रुलाना छोड़ करके मेरे को सुखी कर दीजिए ईश्वर की व्यवस्था दोनों रुलाने की और सुखी करने की जो कि तू बनी है लेकिन मैं अभी दुष्ट था अब मैं आर्य बना हूं पहले मैं दुष्ट था आज मैं आर्य बना हूं मुझे अब तू सुखी कर उसको अश्यामा हम प्राप्त करें किसको तो जो सर्वोच्च चीज भौतिक रूप से हो सकती थी वो चक्रवर्ती साम्राज्य की बात महर्षि ने यहां लिखी उस सुख को उस अत्यंत सुख को लौकिक सुख को भी हम अश्यामा प्राप्त करें तब तेरे कैसे हे रुद्र तब प्रणीतिशु तेरी प्रणीतियों में रहते हुए तेरी प्रणीतियों में रहने वाले हम उसको प्राप्त करें चक्रवर्ती राज्य को प्रणीति प्रनीति तेरी जो प्रकृष्ट अत्यंत उत्तम नीति है तेरे जो दिशा निर्देश हैं उसमें रहते हुए हम चक्रवर्ती राज्य को पालन करें चक्रवर्ती राज्य को पाए तेरी नीतियों से पृथक रहते हुए नहीं तेरी नीतियों से पृथक रहते हुए चक्रवर्ती राज्य पाना चाहेंगे तो वो हम दुष्ट बनेंगे दुष्ट स्थिति में और आप रुद्र हैं मुझे रुलाएंगे ये आर्य पहले परमात्मा की नीतियों में सुप्रणीति में रह रहा है रहने का प्रयास कर रहा है और अब वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा मुझे आप चक्रवर्ती राज्य प्रदान कीजिए मैंने ये पुरुषार्थ किया है आपकी नीतियों में रहने का आपकी नीतियों के अनुसार चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं मैंने किया है और अब मैं इस योग्य हूं कि चक्रवर्ती राज्य की कामना कर सकूं मैं ये पात्र हूं मैं ही क्यों चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करना चाहता हूं दूसरे क्यों नहीं हर वो व्यक्ति ये कामना कर सकता है अधिक से अधिक साम्राज्य की अधिक से अधिक धन की जो परमात्मा की नीतियों में रह रहा है इसे लोभ नहीं कहेंगे इसे लालच नहीं कहेंगे ये साम्राज्य भी वो इसलिए प्राप्त कर रहा है ताकि परमात्मा की वो नीतियां और फैले और अधिक फैले तो हे रुद्र तब प्रणीतिशु तेरी नीतियों में रहते हुए तेरी नीतियों में विद्यमान हम तत् अश्याम उस साम्राज्य को उस सुख को सब सुखों को प्राप्त करें ये परमात्मा से प्रार्थना की गई आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मन में भावना बनाते हुए मंत्र के प्रार्थना को उसके भाव को परमात्मा का स्मरण करेंगे अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि ओ शांति शांति शांति सबको साथ नमस्ते ओम